السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال صلى الله عليه وسلم لإسلام رجل واحد أحب إلي من قتل ألف كافر وقال صلى الله عليه وسلم يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك منه مرنه औ कमा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों और दोस्त और बुजुर्गों इस्लाम जिंदगी गुजारने के ख़ास तरीक़े का नाम है जब मुसलमान पूरे इस्लाम पे चलते हैं तो मुसलमानों की दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी बन जाती है अमन अमान होता है और दूसरे इंसानों की जिंदगी भी अमन वाली बन जाती है जानवरों में भी अमन चैन सुकून होता है एक दिन रसूल पाक रही सरात सलाम की खिदमत में सौ भेड़िए आए भेड़िए जानते हैं आप अगर उनमें से भेड़ियों ने आके हजूर से याद किया <clears throat> यार अल्लाह ने बकरियों को हमारी गुजा बनाया हम बकरी के बचाने में लग जाते हैं फिर ये बकरी को पकड़ने में लग जाते हैं आपके सहाबा आकर हमसे बकरियां अपनी वापस लेते हैं ये मंजर अच्छा नहीं है हमारी राय ये है आइंदा से आपके सहाबा हमारे हिस्से की बकरियां बाहर निकाल दिया करें हमारे हिस्से की बकरियां निकाल देंगे वो हम उठा के ले जाएंगे बाकी बकरियों को एक आंख भी नहीं देंगे रसूल पाक सलाम ने सहाबा के नाम को फरमाया ये भेड़िए तजवीज़ लाए हैं हमारी गजा अल्लाह ने बकरी को बनाया भेड़ बकरी आपके सहाबा के पास है जब हम पकड़ते हैं अपने हिस्से की बकरियां तो सहाबा हमें मारते हैं हमारी उनकी लड़ाई हो जाती है हम इंसानों से सुलह करना चाहते हैं भेड़ियों के दिल में से भी इंसानों से सुलह करने का जज्बा है हमारे हिस्से की बकरियां निकाल दिया करें बाकी बकरियों को हम आंख उठा के भी नहीं देखे तो रसूल पाक सलाम को सहाबा के राम ने आज किया या रसूल हम सोच के बताएंगे सोच कर ये बताया या रसूल हमारा दिल नहीं मानता इस तजवीज़ को बकरी का बच्चा पैदा हुआ उसे हमने पाला पोसा जवान किया ताकतवर और सेहतमंद बकरा हो गया अब अपने हाथ से उसको भेड़िए के आगे डाल दें पुराना तरीका ही ठीक है जो जो बकरियां हमारे हाथ आ गई वो हमारी जो सहाबा के पास रह गई वो सहाबा के रहा तो जब भेड़िए और इंसान में सुलह हो सकती है तो अमन अमान जराइम किसी को तकलीफ पहुंचाने का उस माहौल में तस्वूर भी नहीं हो सकता एक दफ़ा पुलिस वाले हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग तबलीग वाले क्या करते हैं हमने कहा हम लोग तबलीग वाले ये करते हैं जो काम आपका है उसमें हम आपकी मदद करते हैं कैसे आपका काम है मुजरिम को पकड़ना जुर्म करने के बाद हमारी दावत और तबलीग का उन्वान ये है जिसके अंदर जुर्म करने का जज्बा है उसके पास जाओ प्यार मोहब्बत से उससे बात करो और अल्लाह के घर में ले जाओ अल्लाह के घर में जाते ही हर इंसान का दिल मुतासर हो जाता है और उसके अंदर से जुर्म करने का जज्बा निकाल दो जब जुर्म करने का जज्बा नहीं रहेगा तो जुर्म नहीं होगा जब जुर्म नहीं होगा सब अमन चैन से सोते रहेंगे इस्लाम के बगैर दुनिया में अमन कभी कायम नहीं हो सकता वाहिद तरीका अमन कायम होने का इस्लाम वाली जिंदगी इस्लाम वाली जिंदगी कैसे जिंदा होगी इसके लिए नबियों वाली मेहनत नबियों वाली मेहनत जब कोई कौम बिगड़ जाती अल्लाह दावत की मेहनत देकर नबी भेज देते नबी आते मेहनत करते दिलों में हिदायत का नूर जाता और दिलों में से बुरे जज्बात निकल जाते हैं सुना से बाद किताबों में लिखा हुआ एक रात ऐसी आएगी रात को लोग सोएंगे तो दिल में बुरे जज्बात होंगे सोते सोते अल्लाह ताला उनके दिल को नूर हिदायत से भर देंगे जब नूर हिदायत से दिल भर जाएंगे बुराई के जज्बे सारे ख़त्म हो जाएंगे सुबह उठेंगे सबके दिल में नेकी का जज्बा होगा बुरे काम नहीं करने हिदायत के माने हैं नूर हिदायत दिल में आता है आमाज में ज़िंदगी बनती हुई नज़र आती है इस जमाने में दिलों में नूर हिदायत नहीं इसलिए सारी मुश्किल चल रही है पासपोर्ट वीज़े और दूसरी पाबंदियाँ वो सब इसी वजह से हैं कि दिलों में अमन चैन सुकून इतमान वाला जज्बा नहीं घर में माहौल वो बनता है जो माँ बनाती है माँ की तबीयत नरम होती है बाप की तबीयत में ज़रा सख्ती होती है डांट डबट भी करता है स्कूल नहीं गए तो कान पकड़ता है बाप का काम माँ के तबीयत में नरमी होती है इसलिए माँ जो बात चलाती है घर में बच्चे जल्दी कबूल कर ले अगर माँ ये कहती रहे तुम्हारा बाप बड़ा बेफिक्रा है उसे तुम्हारा मकान बनाने की फिक्र नहीं है हर वक्त तबलीग में फिरता है और सिर उसे तीन लगाता है हर महीने में तीन सिर उसे न मेरा ख्याल रखता है न तुम्हारा ख्याल रखता है सारे बच्चे बाप से ही हो जाए अगर ये कहे कि तुम्हारा बाप बड़ा अच्छा है हमारा ईमान बनाया और हमारे तालीम का इंतज़ाम किया और अल्लाह का जिक्र कुरान की तिलावत ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं तुम्हारा वालदेन की फिक्र करता है जन्नत हमारी बनाने की फिक्र करता है तो सारे बच्चे बाप के फर्मा बरदार हो जाए घरों में तालीम का हल्का घरों में कुरान की तिलावत स्कूलों में भी कुरान की तिलावत बच्चों की दीनी तरबियत ये सब जिम्मेदारियां माँ बाप की हैं <clears throat> एक औरत बदकार हजार बदकार मर्दों के बराबर नुकसान करती है एक औरत नेकोकार सत्तर नेकोकार मर्दों के बराबर नफा पहुंचाती है औरत के बिगड़ने से माशरा ज़्यादा बिगड़ता है हजार मर्दों के बिगाड़ के बराबर एक औरत का बिगाड़ यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई आठ दस हजार मुसलमान जमा इसमें घर की तालीम का सबसे ज़्यादा दखल है घरों में तालीम मसाजिद में तालीम जैसे मर्दों को तबलीग निकल कर समझ में आई है औरतें भी सेरोदा लगाएंगी फिर उनको तबलीग समझ में आई दावत की बुनियाद हमदर्दी खैर खाई नफारसानी रसूल पाग सलात सलाम आखिरी नबी इसलिए रसूल पाक सलाम वाले काम की जिम्मेदारी आपकी उम्मत को दी गई हम सब हजूर की मेहनत के जिम्मेदार आप सब हजरात ने इस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है किस किस ने समझा सहाबा के मर्द भी दाई थे सहाबा की औरतें भी दाई थी सहाबा के मर्द भी अल्लाह के रास्ते में निकलते थे सहाबा की औरतें भी अल्लाह के रास्ते में निकला करती थी